अल्लाह अपने बंदे से बहुत नज़दीक है और वो अपने बंदे को हर दम तसल्ली देता है और उसके साथ रहता है कुछ इसी अंदाज का वो बात करते हैं जानम देख लो मिट गई दूरियाँ मैं यहाँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ मेरे बंदे तो देख ले मैंने सारी दूरियों को मिटा दिया मैं तेरे नज़दीक हूँ बहुत नज़दीक हूँ तो घबरा मत मैं तेरे बहुत नज़दीक कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ मैं यहाँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ मेरे बंदे मैं अर्श पे हूँ तू फर्श पे है कोई दूरी नहीं कोई सरहद नहीं कोई मजबूरी नहीं तू मुझे याद करता है तू मेरा ज़िक्र करता है मैं तेरा ज़िक्र करता हूँ तू मुझे याद करता है मैं तुझे याद करता हूँ तू मुझे पुकारता है मैं तेरी पुकार का जवाब देता हूँ मैं यहाँ हूँ यहाँ यहाँ तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ तुम मुझे छुपा ना सकोगे जब मैं अपने आप को ज़ाहिर करना शुरू करता हूँ तो ज़ाहिर करके रहता हूँ और दुनिया चाहे कितना भी हक को छुपाना चाहे मेरी कुदरत को मेरी निशानियों को छुपाना चाहे मेरे दोस्तों को जेर करना चाहे नस्तो नाबूद करना चाहे लेकिन मैं अपने बंदों को अपने दोस्तों को अपनी कुदरत को जाहिर करके रहता हूँ और मेरी सुन्नत और मेरा अंदाज़ बड़ा निराला है मैं हर चीज़ से काम ले लेता हूँ मैं कमज़ोर से कमज़ोर मच्छर मकड़ी मक्खी इन चीज़ों से काम ले लेता हूँ मैं रब्बुल आलमीन हूँ गूंजता हूँ दो दिल में तो है हूँ क्यों मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ बंदे तेरी दिल की धड़कन मेरे ही हुक्म से तो है मेरे ही फजल से तो है मेरे ही करम से तो है मैंने ही तो अता किया है तेरा दिल कौन धड़का रहा है ये मैं ही तो हूँ तू इतना हैरान क्यों है परेशान क्यों है मैं तेरे दिल की आवाज़ों में हूँ तो सुन सके तो सुन सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबा मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ मेरे बंदे जब तू मुझे दिल से पुकारता है तेरा दिल पुकार उठता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह मैं तेरे बहुत नज़दीक हूँ कैसी सर हदें कैसी मजबूरियाँ मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ मैं ही मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ मैं जवाबों में हूँ मैं सवालों में हूँ बंदे तूने ज़िक्र किया तूने मुझे याद किया तूने मुझे कसरत से याद किया तूने मेरा जिक्र कसरत से किया मैंने तुझे ऐसी नेमत अता कर दी कि मैं अब तेरे ख्यालों में हूँ तेरे जवाबों में हूँ तेरे सवालों में हूँ तू सोचता भी है तो मेरे ही बारे में सोचता है ये मेरा एहसान है कि मैं तुझसे अपने बारे में सोचवा रहा हूँ ख्याल करवा रहा हूँ अपनी मोहब्बत में तुझे लगा रखा है कि तू ये गाना गा रहा है गाना हो सकता था तो किसी और के लिए गा लेता लेकिन मेरा तुझ पर एहसान है कि तुम मेरे लिए ही ये गा रहा है कि तेरा ध्यान अभी भी मेरी तरफ है अब तू किसी को जवाब भी देता है तो तू मेरे नाम के साथ तो किसी से सवाल भी करता है तो मेरे नाम के साथ मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा मैं तुम्हारी नज़र के उजालों में हूँ मैं ही मैं अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ मैं जवाबों में हूँ मैं सवालों में हूँ मैं तुम्हारे हर एक ख्वाब में हूँ बसा मैं तुम्हारी नज़र के उजालों में हूँ देखते हो मुझे देखते हो जहाँ मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ तेरे ख्यालों में मैं हूँ तेरे जवाबों में मैं हूँ तेरे सवालों में मैं हूँ तेरे ख्वाबों में मैं हूँ तेरी नज़र के उजालों में मैं तुझको ये निगाह किसने अता की बंदे तुझे देखने की तोफ़ी किसने दी बंदे तू किसी चीज़ को पहचान पाता है आंखों से देख कर ये किसकी तोफ़ीक है किसने उजाला पैदा किया तेरी आंख में देखते हो मुझे देखते हो जहाँ तुम मेरी ही कुदरत को देखते हो जिधर भी निगाह घुमाते हो जिधर भी निगाह उठाते हो ऊपर करो नीचे करो दाएं देखो बाएं देखो जहां देखोगे मेरे कुदरत को देखोगे मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियाँ